हम नशेबाज हैं वो ठीक है और हम बहुचारी हैं वो ठीक है उपदेश की जरूरत है तो आदिवासियों को नई दिल्ली में क्या है उपदेश की जरूरत है ना तो बोले भाई स्वामी जी हम आपके पास अपने पांच सात वर्ष से आठ आठ वर्ष के बच्चे हैं उनको रोज भेजा करेंगे आप घंटे भर उनको धर्म का उपदेश कर दीजिए अगली पीढ़ी हमारी ठीक हो जाएगी अरे बाबा तुम भी तो कभी ऐसा करो <laughs> तुम्हारी अगली पीढ़ी तो हम ठीक करेंगे <clears throat> उनके लिए माफ कर रखे अपने घर में है ना उनको कटहरा तन्हा है ना तो ये जो दासन है तो पहले आसन का अभ्यास था वो बहुत अभी कभी कभी याद आ जाती है तो अपने आप ही लग जाता है आदमी फिर उठने में तकलीफ होती है जम गया तो जम गया हाँ। बोले कौन सा आसन ठीक है अब कहो तो थोड़ी हंसी की बात करते हैं हाँ। असल में ये जो मनुष्य का अंतकरण है ये पूर्व पूर्व जोनियों में पुनर्जन्म की दृष्टि से देखे तो पूर्व पूर्व जोनियों में ये विभिन्न पशु पक्षियों के शरीर में रहा हुआ है तो कुछ कुछ उसका संस्कार शेष रहता है तो अब ऐसी तो शरीर की हो नहीं सकती एक ही शकल तो शरीर की बन नहीं सकती और संस्कार पहले के तो, तो शेष है तो आदमी अपने को उन उन पशु पक्षियों के रूप में बना बना के देखता है अब हम उत्साह लगा के आपकी जानते हैं दोनों पाओ धरती करके और हाथ से उसको पकड़ लें और पेट आ जाए धरती पर बोला और दोनों हाथ से ऊपर से पाँव को पकड़ लें और फिर ऊपर कर दें इसका तो नाम क्या होगा उत्साहन बोला अब थोड़ी देर ईट रूप में रहे मजा आ जाए और ऊँट हम्म, से जैसे पत्ती लकड़ी सब कट जाती है वैसे आपके पेट में भी पकाने की ताकत आएगी मयूर के रूप में खड़ी रहे मयूर आसन भुजंगासन कभी उल्टे भी लटकते रहे होंगे किसी दिशा में <laughs> किसी कार की दिशा में तो पाँव ऊपर करो सिर नीचे तो करो उनको तो बहुत है ना हमको तो बहुत बीस तीस पैंतीस के करीब करीब हमको आसन बिल्कुल तैयार थे सीख गए थे सीख तो बोले आओ वेदांत में आसन क्या है वेदांत में आसन ये है कि श्रम न हो और कर्तृत्व का उदय न हो है ना परिश्रम न हो और मैं कर रहा हूँ मेरे करने से ये हो रहा है ये ख्याल न है हम्म। और इस आसन में से सुख निकल रहा है भोग भी नहीं हो गया आसन का है ना श्रम भी छोड़ दो और श्रम का कर्तृत्व भी छोड़ दो भोग भी छोड़ दो और भोक्तृत्व भी छोड़ दो और मैं इस देह में सीमित हूँ इस भ्रांति को भी छोड़ दो मैं किसी में बैठा मैं किसी शरीर में बैठा नहीं हूँ मैं किसी कुशासन पर बैठा नहीं हूँ ये सारी सृष्टि मुझ में बैठी हुई भाग रही है ना मैं धरती पर नहीं बैठा हूँ धरती मुझ में बैठी है मैं आकाश में नहीं बैठा हूँ आकाश मुझ में जगमगा रहा है मैं प्रकृति का कोई बच्चा नहीं हूँ है ना मैं प्रकृति का कच्चा हूँ है ना हाँ, हाँ। प्रकृति से भी ज्यादा लंबा चौड़ा प्रकृति से भी ज्यादा उम्र वाला है और प्रकृति से भी अधिक सत्ता वाला सच्चिदानंद भगवान पर ब्रह्म परमात्मा होना मैं किसी पर किसी में किसी समय नहीं बैठता कोई भी चीज किसी भी समय कहीं भी है तो मुझ में ही बैठी दिख रही है सपने की धरती सपने का आसमान और सपने के मित्र सपने के शत्रु सपने का प्यार सपने का समुद्र जैसे अपने मन में है वैसे जागृत अवस्था में भाषमान सारी सृष्टि का आसन मैं हूँ बना सुखे नवे यस्मिन अजस्रम ब्रह्म चिंतनम आसनम तदुजानुयात नई तरफ सुखनासनम अच्छा ये प्रसंग से कल

मदप्रभाभ्युक्तः व्रतं तु तो भाति कलनात् सर्वभूतानाम् ब्रह्मादीनाम् सतः कालशब्देन निर्दिश ते यथन्दानन्दभ्ययः सुखेनैव भवेद् यस्मिन् अजस्रम् ब्रह्मचिन्तनम् आसनम् तदुजानीया नेत्रसुखनासनम् बुद्धम् यत्सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् यस्मिन् तद्वै उत्तम काल कौन सा होगा कल समय उसके बारे में उत्तम काल वो है जिसमें काल के अवयव न भाषें मान काल खंड खंड न हो रात दिन हाँ? सप्ताह का मास ऋतु अयन वर्ष मनवंतर कल्प महाकल्प कि काल के जो हिस्से हैं हिस्से तो होते मिनट काल के टुकड़े टुकड़े न हो तो काल अखंड है और काल में टुकड़ा नहीं होता है घड़ी में टुकड़ा होता है बोला फूल में टुकड़ा होता है धरती और सूर्य की चाल में टुकड़ा होता है ध्रुव और ब्रह्मांड की गति में टुकड़ा होता है माने टुकड़ा होता है द्रव्य में और आरोपित होता है काल में अब ये बात है कि जो लोग मेन लकड़ी की फिक्र में ज्यादा लगे रहते हैं उन्होंने तो काल वस्तु पर कभी विचार ही नहीं किया होगा कि काल क्या होता है वो तो पांच बजे दस बजे यही जानते हैं ये दस बजे ऑफिस में चले और पांच बजे यहाँ से निकले हाँ, उनके दिमाग में तो दो ही काल रहते हैं खंड है द्रव्य का धर्म टुकड़ा टुकड़ा होना है ये भौतिक वस्तु का धर्म खंड खंड होना टुकड़ा टुकड़ा होना तो सूर्य की गति मापने के लिए प्राचीन काल में क्या व्यवस्था थी कि जितने काल में सूर्य परमाणु मात्र देश का अतिक्रमण करता है उस काल का नाम परमाणु है माने दो परमाणु का एक अणु मानते हैं तो परमाणु जो है वो एक प्रश्रेणी का स्वस्थ भाग है छठा भाग है और इतना स्थान जितनी देर में सूर्य विचार करता है उसका नाम परमाणु काल है तो देखो सूर्य तो एक वस्तु है और परमाणु स्थान है चला सूर्य और स्थान में चला तो स्थान अन्य हुआ सूर्य अन्य हुआ और उसको टुकड़ा किसका किया गया बोले काल का तो ये परमाणु काल है तो अन्य के खंड होने से अन्य को खंड मानना इसको अभिवेक बोलते हैं असल में स्थान में भी परमाणु दोष नहीं होता यदि देश का विचार करें तो इसमें टुकड़े टुकड़े टुकड़े नहीं होंगे ये तो परमाणु नाम का एक द्रव्य है एक द्रव्य का कारणभूत रूप है प्रसिद्धि आदि तीन द्रव्य का तो जो जितनी दूर में रहता है उसको परमाणु देश बोलते हैं माने अवकाशात्मक देश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना जिसमें होती है उस देश में परमाणु से कोई परिच्छेद नहीं है परमाणु से अवच्छिन्न देश सचमुच परिच्छिन्न नहीं हो जाता परमाणु तो इसमें घूमता है देश से जो का पेड़ रहता है इसी प्रकार परमाणु की उपाधि से कल्पित खंड देश में जो सूर्य की गति है वो गति है सूर्य की और परमाणु से कल्पित है खंड देश में तो काल उससे परमाणु रूप नहीं हो सकता तो नारायण जरा कभी ये ध्यान करना कि काल क्या है तो ये देश के तो छोटा होने से काल छोटा नहीं होता वस्तु के छोटा होने से छोटा नहीं होता देश और वस्तु के बड़ा होने से मोटा होने से मोटा नहीं होता देश और वस्तु तो उपाधियां हैं मैंने एक अलग चीजें हैं जिनकी वजह से काल में टुकड़ा टुकड़ा मालूम करता है तो काल में भूत भविष्य वर्तमान का भेद भी नहीं होता है तो हमारे शरीर का एक भूत है एक भविष्य है एक वर्तमान है पर शरीर में जो भूत भविष्य वर्तमान है ये तो उपाधि है शरीर तो उपाधि है एक अलग चीज है उपाधि इसी को कहते हैं कि जो व्यक्ति से अलग रह करके अपने धर्म को दूसरे में संचारित कर दे तो ये देह जो है ये काल से अलग रहते और अपने भूतत्व अपने भविष्यत्व और अपने वर्तमानत्व को काल में आरोपित कर देता है इसका अर्थ हुआ कि काल जो है वो भूत वर्तमान और भविष्यत्व से परिच्छिन्न नहीं है और देश जो है वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दस दस दसता से परिच्छिन्न देश नहीं है दस के देश के दस विभाग मानते हैं चारों दिशा और चारों सेना ऊपर और नीचे ये दस विभाग दिशा के होते हैं पर ये द्रव्य की अपेक्षा से होते हैं यदि पृथ्वी आदि स्थूल द्रव्य न हो तो ऊपर नीचे पूरे पश्चिम आदि दिक्कत में नहीं है तो दिशा में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कल्पित है ऐसा अधिक है दिशा